काम्याम प्रतिषिद्धानाम च फलम तद्दोष दर्शन वैराग्यार्थम कथयति काम्य कर्म प्रतिषिद्ध कर्म उपासना उसका फल कथन करते हैं वैराग्य के लिए दोष दर्शन के द्वारा वैराग्य का हेतु है दोष दृष्टि दोष दृष्टि जिहासा च पुनर्भोगे स्वदे अधीनता हेतु स्वरूप कार्याणी पंचदश में कहा गया हेतु स्वरूप कार्य हेतु है दोष दृष्टि वैराग्य का स्वरूप है जिहासा तुम त्यक्तुम इच्छा और कार्य है भोगेशु अधीनता वैराग्य नहीं होने से भोग के विषय में दीन हो जाता है कुछ प्राप्त हो किसी विषय भोग करने के लिए अत्यंत दीन हो जाता है और वैराग्य होने पर कोई बात नहीं जो जरूरत नहीं चल जाता है उसके बिना क्या आवश्यक उसके बिना कोई जरूरत कोई भोग के लिए दीनता नहीं दोष दृष्टि जिहासाच पुनर्भोगे स्वदीनता भोग में दीनता का अभाव वैराग्य का फल है और हे स्वरूप वैराग्य का जिहासा सब कुछ छोड़ने कोई रखने की संग्रह करने की इच्छा नहीं सब त्याग करने की इच्छा तो वैराग्य के लिए कथन करते सकामस्य तो ज्ञान रहितस्य केवलानि श्रौतानि स्मारतानि च कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवन्ति <clears throat> सकामस्य तु जो कामना से काम कामेन सह इति सकाम फल इच्छा के युक्त होकर कर्म करता है ज्ञान रहितस्य केवलानि कर्माणि यहां ज्ञान उपासना उपासना के बिना केवल ज्ञान करता है केवल कर्म करता है ज्ञान है उपासना उपासन रहित से केवल कर्म कर्मणाम फल है केवलानि कर्माणि केवल कर्म सौत श्रुति विहित कर्म स्मृति विहित कर्म जितने कर्म सब कर्म कर्म का फल दक्षिण मार्ग प्रतिपत्ति कर्माणि दक्षिण मार्ग प्रतिपत्ते दक्षिण मार्ग के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति है और पुनरावृत्ते च भवन्ति जितने दिन पुण्य कर्म पितृलोक में रह करके फिर पुनरावृत्ति होती है स्वाभाविक क्या त्वशास्त्रीय या प्रवृत्तिया पश्वादि तो अधोगति स्यात ये तो विहित कर्म का फल बता दिया जो केवल उपासना रहित केवल कर्म का फल और स्वाभाविक क्या प्रवृत्तिया एक प्रवृत्ति तो शास्त्र श्रवण शास्त्रजन्य ज्ञान शास्त्रीय प्रवृत्ति शास्त्र संस्कार युक्त होने पर इससे प्रवृत्ति होती और जो शास्त्र संस्कार के बिना अपने आप प्रवृत्ति होती है सामान्य पशुवादी की प्रवृत्ति होती है कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है पशु पक्षी भी प्रवृत्त होते हैं इसी प्रकार मनुष्य में प्रवृत्ति होती है स्वाभाविक ही प्रवृत्ति सब भोजन करना जानते हैं भय करते हैं बच्चे पालते हैं पैदा करते हैं ये स्वाभाविक ही प्रवृत्ति है अशास्त्रीय या स्वाभाविक स्वभाव अनादि अविद्या उससे जो प्रवृत्ति होती है पूर्व पूर्व जन्म में भोग क्या था वासना है संस्कार है उस संस्कार के अनुसार तद अनुरूप जिस योनि में जाता है उस योनि में उसे वासना उद्भूत हो जाती है संस्कार के कारण फिर ऐसे प्रभुत्व होता है बहुत अपने आप ही बिना सिखाए जान लेते हैं तो अशास्त्रीय प्रवृत्ति शास्त्र से श्रवण करने पर कौन प्रवृत्ति इष्ट कौन अनिष्ट साधन है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो शास्त्र से होता है उसके बिना जो मनमान भी करते हैं अशास्त्रीय प्रवृत्ति है वही अशास्त्रीय प्रवृत्ति का फल क्या है प्रवृत्तिया पश्वादि स्थावरांता अधोगति अधोगति होती है नीचे अध नीचे गमन नीचे मतलब क्या है मनुष्य से निकृष्ट जन्म मनुष्य से निकृष्ट पशु आदि पशु पक्षी आदि निकृष्ट पेड़ पौधे आदि लेकर कहां तक पशु आदि अंत स्थावर स्थिर रहने वाले <coughs> पेड़ पौधे तृण आदि पेड़ आदि यहां तक अधोगति है अथ एतयो पथोर न कतर न चन तानि मानि छिद्राणि असकृदावर्तिनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इत तृतीय स्थानम इति श्रुते केवल कर्म करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक उपासना से देवलोक की उत्तरायण मार्ग से प्राप्ति होती है जो उपासना कर्म समुचित उपासना केवल उपासना करते हैं अथवा केवल कर्म करते उपासना के बिना वो तो उत्तरायण दक्षिणायण दोनों मार्ग को प्राप्त करेंगे और बाकी अन्य जितने होते हैं ये तो पथोर न से न ये दोनों मार्ग से किसी से नहीं जाते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे वो वो तानी मानी क्षुद्राणी असकृत आवृत्ति भूतानी क्षुद्र निकृष्ट जन्म को प्राप्त करते हैं असकृत आवृत्ति बार बार जन्म मरण को प्राप्त करते हैं जन्म हुआ फिर मर गया फिर जन्म फिर मरण ऐसे आवृत्ति चक्र भ्रमण जैसे घूमता रहता है ऐसा असकृत बार बार पुनः पुनः आवृत होने वाले जन्म मरण को प्राप्त करते कीट पतंग आदि उनके लिए श्रुति में कहा गया जायस्व मृयस्व इत्येत तृतीयम स्थानम जायस्व मृयस्व यहाँ लोट लोट ही सौ ऐसे सूत्र है समुच्चय अन्यतर श्याम सूत्र से ऐसे विकल्प से हुआ तो पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त करते हैं टीका में एतयो पथोर ज्ञान कर्मणर मध्ये केनापि मार्गेण ये न प्रवृतास ते प्रतिसिद्धानुष्ठान इत्यर्थ एतयो पथोर ज्ञान कर्मणर एक उपासना और के कर्म ये करने पर उत्तरायण दक्षिणायण की प्राप्ति है जिस मार्ग से जो नहीं प्रवृत्त होए केनापि मार्गेण ये न प्रवृता तो विहित कर्म उपासना नहीं करेंगे तो पाप नहीं करेंगे नहीं पाप तो करेंगे ते प्रतिषिद्ध अनुष्ठान प्रतिषिद्ध अनुष्ठान करने वाले केवल शास्त्र संस्कार नहीं शास्त्रीय कर्म नहीं करते इतने मात्र से पाप निवृत्ति नहीं होती है पुण्य कर्म नहीं कर सकते किंतु पाप तो होते करना होता है विहित प्रतिषिद्ध ज्ञान होना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने मन से निश्चय करके ये उचित अनुचित वो नहीं होता है शास्त्र के द्वारा प्रतिषिद्ध कर्म ही करना नहीं चाहिए शास्त्र विहित हो तो कर्तव्य है तो प्रतिषिध अनुसार करने वाले ऐसे तृतीय स्थान को पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त करते हैं जाय का अर्थ इसका अर्थ पुनः पुनः जायन्ते मृयन्ते च बार-बार जन्म होते मरते हैं भाष्य में प्रजा तीसरो अत्यायम यु इति च मंत्र वर्णादः तीन प्रजा है तीन प्रकार टीका में तीसरा प्रजा स्वेदज अंडज उद्भिज लक्षणा स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज अलग है स्वेदज अंडज उद्भिज खटमला आदि कुछ होते स्वेदज अंडज पक्षी है सर्प है उद्भिज है पेड़ पौधे आदि पितृयान देवयान लक्षण मार्गद्वय गमनम अतिथ्य कष्टामेव गतिम युह प्राप्त इत्यर्थ पितृयान कर्म करने पर दक्षिण मार्ग से जाते हैं उपासना करने पर देवयान उत्तरायण मार्ग ये दोनों देव पितृयान देवयान लक्षण स्वरूप जो मार्गद्वय ये दो मार्गद्वय में गमन को अतिक्रम करके वो उसमें नहीं जाते हैं कर्म विहित कर्म करने पर पितृलोक की प्राप्ति होती दक्षिणायन मार्ग से उपासना करने पर देवलोक की प्राप्ति होती उत्तरायण मार्ग से ये दोनों जो विहित कर्म नहीं करते उपासना नहीं करते हैं तो मार्ग द्वय गमन को अतिक्रम करके तृतीय मार्ग को प्राप्त करते कष्टामेव गतिम यूह यूह का अर्थ प्राप्त कष्ट गति को प्राप्त किया उन्होंने प्राप्त करते हैं वही कष्ट है बार-बार जन्म मरण एवं कर्म फल मुक्त्वा ततो विरक्तस्य विशुद्ध सत्वस्य से ब्रह्म ज्ञान दर्शयन हेतु मत भावम आह बहुत लोग कहते हम नहीं मानते नहीं मानेंगे तो पाप कर्म फल भोगना पड़ेगा नहीं मानने पर भी भोगना पड़ेगा पुण्य कर्म नहीं करो तो पाप कर्म ये तो कहा नहीं पाप कर्म का फल क्या संख्या से बता दिया सेद जंड कह करके पुनः पुनः जन्म मरण और पाप कर्म को करने वाले नरक भी जाते हैं बार-बार जन्म मरण फिर कैसे भोग करना पड़ता है बहुत कुछ कर्म फल है प्रतिषिध कर्म का फल तो बड़े दुख है और विहित कर्म का फल तो स्वर्ग सुख है किंतु वहाँ भी बहुत दिन अपनी इच्छा से नहीं रह सकते हैं जब तक तो कर्म है तब तक तो रहना पड़ेगा कर्म समाप्त होने पर एक क्षण भी नहीं तुरंत चाहेंगे थोड़े एक दो दिन के बाद जाएंगे और थोड़ा कहीं कुछ है थोड़ा घूम ले देख ले तो बर्फ पिघल जाता है इसे सारा पिघल ही जाएगा सोते सोते अभी वो सोते अभी जाने का समय हो गया अभी समय हो गया जाना है ऐसे सोते सोते उस सो का ताप होता है संताप वो संताप उसी गर्मी से ही बर्फ जैसे पिघल जाता है शरीर पिघल जाता है अपने शौक होता है कभी जाने का समय हुआ अभी से नीचे जाएंगे तो शोक संताप से बर्फ जैसे पिघल जाता है शरीर ही पिघल जाएगा ठीक समय होते पिघलेगा गया अपनी इच्छा से नहीं थोड़ी देर करेंगे ऐसा नहीं चलेगा इसलिए वहाँ जो जाते हैं वहाँ भी कम समय ज़्यादा समय रहने वाला पहले से ही दुखी होते इतने दिन में हमको जाना पड़ेगा <clears throat> फिर आने के बाद आने के बाद ऐसा नहीं कि फिर नमस्तनता है दक्षिणा भोजन मिल जाएगा कोई नहीं आने के बाद फिर किस जोनि में जाना पड़ेगा ठीक है मनुष्य बनेगा कोई निश्चित है क्या अब मनुष्य बनेगा तो मनुष्य भी कितने प्रकार बनते हैं कितने प्रकार मनुष्य कैसे कैसे वास करते हैं मनुष्य भी कितने प्रकार है वस्त्रहीन भी रहने वाले कच्चा मांस खाने वाले कहाँ बर्फ में रहने वाले जंगल में रहने वाले विभिन्न प्रकार मनुष्य विपरीत मार्ग में चलने वाले अलग अलग मत वाले तो मनुष्य जन्म निकृष्ट जन्म कितने जन्म प्राप्त करेंगे इसलिए विहित कर्म करने पर स्वर्ग में कुछ दिन तो रहेंगे जरूर उसके बाद गति विचार करेंगे तो वैराग्य होता है जब सुख भोग करते अभी सुख से रहते हैं उस समय विचार करें आगे क्या होगा कितने दिन इसे सुख मिलेगा शरीर कितने दिन रहेगा ये विचार जब नहीं होता है तो पशु पक्षी जैसे तो चलते रहते हैं उनको पता नहीं और थोड़े विचार करे तो पता चलता है ये शरीर समाप्त होने वाला है और समाप्त होने पर कहाँ जाना पड़ेगा अब इसे निश्चय है ना अपन निश्चय के अनुसार नहीं काम चलता है निश्चय के अनुसार चले तो सब स्वर्ग में जाकर बैठ जाएंगे जो चाहता है वह नहीं जो कर्म जाएंगे अपने आप ले लेगा इसलिए कर्म फल विचार करने पर ही वैराग्य होता है विहित कर्म प्रतिषिध कर्म फल विचार करने पर वैराग्य एवं कर्म फल मुक्त्वा कर्म फल कथन किया भगवान भाष्यकर ने कहा तब तत्व विरक्तस्य विरक्त होने पर विशुद्ध सत्वस्य विशुद्धम सत्वम यस्य सत्व गुण शुद्ध हो जाएगा रजगुण तमगुण कम हो जाएगा तो उसको शुद्धांतकरण कहते हैं जिसका सत्व अंतकरण शुद्ध हो गया उसका ही ब्रह्म ज्ञान में अधिकार इति दर्शन दिखाते हुए ब्रह्म ज्ञान उपदेश तो बहुत नहीं ज्ञान होने के लिए पात्रता हो तो वैराग्य होना चाहिए अत्यंत वत समाधि समाहित से दृढ़ प्रबोध अत्यंत वैराग्य पूरा शब्द से ऊपर से कौन से नहीं अत्यंत वैराग्य हो तो ब्रह्म ज्ञान में अधिकार इसीलिए ये उपनिषद भाग वेद में अंत में आता है पहले कर्म उपासना कह करके तो इससे सिद्ध होता है पहले कर्म उपासना आगे ज्ञान कांड है तो जो नियत पूर्वापर पौरापर्य पूर्वापर भाव उसे सिद्ध होता है संबंध क्या संबंध है हेतु हेतु मद भाव कार्य कारण भाव संबंध हेतु हेतु मद भावम संबंध आह विशुद्ध सत्वस्य भाष्य में इति च मंत्रवा विशुद्ध सत्व से तो निष्कामस्यैव बाह्याद अनित्या साध्य साधन संबंधाद यह कृतात् वा संस्कार विशेषोद्भवाद विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्त जिज्ञासा प्रवर्तते ऐसे शुद्धांत कण होने पर भी जिज्ञासा होती है आत्म विषय प्रत्यगात्म विषय की जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा शुद्ध अंतकण होने पर जिज्ञासा जिज्ञासा है जानने की इच्छा पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो तो जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होगी थोड़े कुछ समझ करके जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती कहते हमको तो समझ आ गया क्या है अपने स्वरूप आत्मा है और क्या करना है कारण क्या है यदि भूख क्षुधा है बुभुक्षा है भोजन के स्थान पर थोड़ा कुछ मिल गया क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी भूख है तो क्षुधा है भूख भूख है भोजन करने की चाहे और इतने टुकड़ा दे दिया रोटी का टुकड़ा बिस्कुट के दे दिया क्षुधा निवृत्ति हो जाती है ना निवृत्ति हो जाती है क्योंकि क्षुधा के लिए जितने चाहिए भोजन करे तो क्षुधा निवृत्ति जिसको खाने की इच्छा नहीं थी को थोड़ा हम थोड़ा हम खा लेंगे तो कुछ थोड़ा ले लिया बस हो गया एक बिस्कुट दे तो आधा खाया आधा छोड़ दिया ये भूख ही नहीं इसी प्रकार जिज्ञासा जिसकी है ज्ञान के बिना जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाएगी ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा खाने की इच्छा है बुभुक्षा पातुम इच्छा पिपासा पीना चाहता है प्यास जल नहीं मिले रुपया मिल जाए अच्छा माला मिल जाए धन संपत्ति मिल जाए तो पानी पीने की इच्छा होगी पिपासा की निवृत्ति पानी पीने से होती है इसी प्रकार जिज्ञासा की निवृत्ति ज्ञान से ज्ञान के बिना जिज्ञासा निवृत्ति हो गई सब छोड़ करके विचार छोड़ दिया श्रवण छोड़ दिया हो गया समझेगा अपने ब्रह्म है और क्या करना है इसका अर्थ क्या है जिज्ञासा नहीं थी जिज्ञासा होनी अच्छी है या खराब है हाँ कहते अभी तक तो समझ नहीं अभी तो पढ़ते रहते इतने दिन तो क्या है हम तो थोड़े दिन से सब समझ गए कोई कहते बिना पढ़े भी समझ लेते एक दो पुस्तक पढ़ा समझे कि आत्मा ही तो ब्रह्म है और क्या है और क्या भाव बस पढ़ करके क्या मिलेगा और क्या अधिक क्या सुनने मिलेगा अंत में पढ़कर करना क्या है अपने ब्रह्म ही चिंतन करना है से साधना करो जिज्ञासा नहीं होती है अंतकण शुद्ध नहीं हो तो शुद्ध अंतकण होने पर ही जिज्ञासा होती है विशुद्ध से प्रत्येगात्म विषय जिज्ञासा प्रवर्तते जिज्ञासा अंतकण शुद्ध होने पर ही होती है और कैसे होती है जिज्ञासा विशुद्ध से तो निष्कामस्य और निष्काम कामना रहित तो। बाह्याद अनित्या साध्य साधन संबंधाद जितने बाह्य आत्म से भिन्न अनित्य वस्तु ही साध्य साधन संबंधे कर्म कर्म फल वो सबसे विरक्तात् विरक्तस्य जिज्ञासा प्रवर्तते विरक्त वैराग्य होने पर भी जिज्ञासा होती है तो ये साध्य साधन संबंध अनित्य बाह्य विषय से वैराग्य कैसे हो जाएगा वैराग्य जितने तो जितने होना चाहिए क्यों नहीं होता है इसलिए कहा यह कृताद पूर्व कृताद संस्कार विशेष उद्भवाद यहाँ पुण्य कर्म निष्काम कर्म करने पर अथवा पूर्वजों ने बहुत कर्म किया उपासना करने पर संस्कार विशेष होता है उसे विशेष उद्भवा विशेष संस्कार उद्भव होता है उत्पन्न होता है तो विरक्तस्य जो वैराग्य होता है प्रत्यगात्म से जिज्ञासा है तो वैराग्य होता है तब तो वैराग्य होने पर फिर जिज्ञासा होने पर आगे जानने की इच्छा है तो फिर गुरु उपसत्ति तब गुरु के पास जाने की इच्छा होती है टीका में साध्य साधन संबंधात साध्य साधन संबंधात विरक्तस्य साध्य साधन संबंध से विरक्त होने पर और निमित्त तत्र निमित्त से अदृष्ट से अदृष्टस्य आह निमित्त से अदृष्ट से आह निमित्त अदृष्ट अदृष्ट होने पर ही वैराग्य होता है वह अदृष्ट नियत नहीं किसी जन्म में होना चाहिए कोई नहीं अनियत इसी जन्म पुण्य कर्म से अथवा पहले कितने जन्म पुण्य कर्म उपासना करने से वैराग्य होता है निमित्त है वैराग्य क्या निमित्त अदृष्ट है अनियतत्वमः यह कृताद पूर्वकृताद वा कर्म फलाद विरक्तस्य ब्रह्म जिज्ञासा भवति तत्र अन्य संवाद मा कन्य कर्म फल से विरक्त होने पर ही ब्रह्म जिज्ञासा होती है और कर्म फल की यदि इच्छा है धन संपत्ति ख्याति ये सब इच्छा है तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी कोई जरूरत नहीं वो कहते ब्रह्म ज्ञान हो गया तो क्या हो जाएगा कहते क्या ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या रखा गया ब्रह्म ज्ञान वजह क्या मिलेगा क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का फल में महत्व बुद्धि नहीं महत्व बुद्धि तो धन सम्पत्ति ख्याति धन सम्पत्ति ख्याति नहीं मिला तो ब्रह्म ज्ञान मिला तो क्या मिला वो अभी तक इतने पढ़ करके बैठ कर रोटी खाता है क्षेत्र की रोटी क्षेत्र की रोटी खाता है तो क्या लाभ हुआ तपस्या करने का तपस्या करने का लाभ मतलब यही मान लगता है कि बड़ा विख्यात हो जाए धन सम्पत्ति इकट्ठ हो जाए जिनका मन में ये सब भावना है उनकी ये जिज्ञासा नहीं होती है कर्म फलाद विरक्तस्य ब्रह्म जिज्ञासा भवति इसमें अन्य संवाद अन्य उपनिषद की सम्मति कहते काटकेश पहले तदेतद वस्तु प्रश्न प्रतिपदचन लक्षण या श्रुत्या प्रदर्श्यते केनचितम इत्याद्यया यही वस्तु ब्रह्म विषय की जिज्ञासा प्रश्न प्रतिवचन लक्षण या श्रुत्या प्रश्न प्रतिवचन प्रश्न और प्रतिवचन उत्तर शिष्य का प्रश्न आचार्य का उत्तर प्रश्न प्रतिवचनम लक्षणम स्वरूपम यस्या श्रुत्या सा श्रुति प्रश्न प्रतिवचन लक्षणा प्रश्नोत्तर स्वरूप श्रुति के द्वारा दिखाया जाता है के निश्चितम इत्यादि और कठोपनिषद ने कहा काठ के चुक्तम परांची खानी व्यतन स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चिधीर प्रत्यगात्मानम मैच्छद आवृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन इत्यादि स्वयंभू करता है स्वयंभू व्यत्रिनथ खानी परांच व्यत्रिनथ ख से उपलक्षित इंद्रिय को परा अंचति परांची बाहर जाने वाला बना दिया ब्रह्मा जी ने स्वयंभू त्रिहु हिंसायम धातु से बनता व्यत्रिनथ उनके प्रति हिंसा ब्रह्मा जी ने इंद्र के प्रति हिंसा की उनका मुख बाहर की ओर बना दिया बाहर की ओर दौड़ती है तस्मा परां पश्यति मनुष्य जीव बाहर देखता है न अंतरात्मन अंतरात्मा को नहीं देखता है बाहर से देखता है और कोई धीर होता है विवेकी कश्चित धीर प्रत्येगात्मानम ऐच्छत कोई धीर ही प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार ये दिखता है साक्षात्कार करता है किंतु कब करता है आवृत चक्षु आवृतानि चक्षुंसि यस्य चक्षु सद उपलक्षण है बाह्य इंद्र आवृत विषय से हट उपरत है तो सारे विशेष उपरत होने पर ही प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है किंतु बाह्य विशेष उपरत क्यों होगा उसका हेतु अमृतत्व इच्छन अमृतत्व चाहता हुआ जो अमृतत्व मोक्ष चाहता है बाह्य साध्य साधन संबंध से कर्म कर्म फल से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा जो मोक्ष चाहता है मोक्ष साधनों को इकट्ठी करेगा और अन्य साधन को नहीं करेगा इसलिए बाह्य साधन से सब व्यस्त हो जाता है तो अमृतत्व मिशन बाहर साधन सब बंद करके कोई धीर ही उसका साक्षात्कार करता है टीका में आवृत चक्षुति साध्य साधन भावाद ऊपर तो कर्ण ग्राम आवृत चक्षु का तो खाली आंख बंद कर देने का नहीं साध्य साधन रूप जो बाह्य पदार्थ जितने कर्म है साधन साध्य है फल कर्म फल साध्य में स्वर्ग आदि सब धन संपत्ति सब कुछ है उसे उपरत कर्ण ग्राम उपरत कर्ण ग्राम यस्य कर्ण समुदाय जिसका उपरत हो गई बाह्य विषय से यहाँ चक्षु ग्रहण से उपलक्षणार्थत्वात् चक्षु आवृत चक्षु ये उपलक्षण तद ग्राहकते सति तद इतर ग्राहकत्वम चक्षु लेना अन्य इंद्रिय लेना सब इंद्रिय उपरत है बाह्य विशेष उपरत होने पर ही आत्मदर्शन हो सकता है और श्रुति में का परिचय लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आया नास्त्य कृत कर्म कर्मचितान लोकान परिचय कर्म भी प्राप्त लोक कर्म फल इनका विचार करके परिचय परिक्षण परितक्षण सब पूरा पूरा विचार करना कोई फल प्राप्त होता है उसकी परीक्षा परिपूर्वक ईक्षण इच्छा दर्शन है दर्शन परित इच्छणम पूरा पूरा आगे पीछे बाएं डाइने अंत सब देखना अंत में क्या है कैसे प्राप्त होता है प्राप्त होने से क्या लाभ हुआ प्राप्त होते समय आगे पीछे क्या चल रहा है बाएं दाएं क्या है कोई फल प्राप्त हुआ कोई बड़े बहुत सम्मान मिला किसको उस हम विचार करें वो कहाँ किस मार्ग से जा रहा है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल रहा है या लक्ष्य से हट गया यदि कोई लक्ष्य से हट गया उसको धन समृद्धि बहुत मिल गया कृतार्थ तो हो जाएगा उसको क्या कहा जाएगा बुद्धिमान कहा जाएगा हम्म क्या कहा जाएगा हां मूर्ख अपने रास्ता से यदि हट गया अन्य कुछ मिल गया तो क्या हो गया इसलिए उसे महत्व बुद्धि नहीं करनी है विचार नहीं करने पर किसको कुछ प्राप्त हो गया किसके पास कुछ इकट्ठी हो गई धन संपत्ति उससे तो बड़ा बड़े बन गया बड़ा बन गया बस धन संपत्ति से बड़ा बन गया उसको सोचते सोचते उधर महत्व बुद्धि करके उधर चलने लगा अपना रास्ता छोड़ करके उधर अच्छा दिखता है उधर अच्छा दिखता है जाना है कहीं गंतव्य नीलकंठ जाना है ये रास्ता अच्छा नहीं इधर रास्ता अच्छा दिखता है वो रास्ता अच्छा बहुत लोग चल रहे चलो उधर चलो अच्छा रास्ता में चलेगा तो पहुंच जाएगा नीलकंठ दूसरे जगह काम पहुंचेगा बहुत देर का तो पता चले अरे मैं तो नीलकंठ जाना था कहाँ गया तब तक समय हो गया ये शाम फिर नहीं जा सकता है इसी प्रकार बहुत का होता है जहाँ महत्व बुद्धि करते उधर गति हो जाती है फिर कहाँ चलना जाना के किस लिए आया और कहाँ जाकर पहुँच गया जीवन बर्बाद हो गया इसलिए पहले से विचार करके लक्ष्य को चलना उसे मार्ग में कांटा है तो उस मार्ग में चलना है अच्छा मार्ग विपरीत मार्ग में चलना है कांटा होने पर भी पैर सावधान से करके आगे जाना ही पड़ता है यही मार्ग है तो चढ़ाई उतराई हो तो भी जाना होता है जो जाते हैं मंदिर में कहीं ऊपर है है चढ़ाई उतराई पहाड़ चढ़ते ही जाते हैं ये नहीं कि चढ़ाई करना पड़ता है ये समतल रास्ता चलो इधर चलो समतल रास्ता अच्छा रास्ता दिखेंगे तो गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं वहाँ अन्य रास्ता हो जाएगा इसलिए विचार करना पड़ता है परीक्ष लोकान कर्मचितान कर्म से प्राप्त फलों को की परीक्षा करके अंत में क्या होगा स्वर्ग जाएंगे तो फिर आना पड़ेगा आने के बाद क्या बनना पड़ेगा किसके हाथ पर है अभी मनुष्य जन्म प्राप्त तो है अभी साधना नहीं करे ऐसा जन्म बर्बाद कर दे फिर आगे क्या मिलेगा अब जन्म ठीक ना नहीं है इसलिए थोड़ा विचार करके ब्राह्मण निर्वेदम आयात निर्वेद वैराग्य को प्राप्त करे ब्राह्मण जो ब्रह्म जिज्ञासु हुए ब्रह्म ज्ञान चाहता है पहले वैराग्य को प्राप्त करे वैराग्य दृढ़ होना चाहिए तब वेदांत श्रवण करने से ज्ञान होता है वैराग्य के बिना थोड़े यदि कौतूहल से आरंभ कर लेता है तो ज्ञान क्या होगा श्रवण भी पूरा नहीं होता है वैराग्य नहीं हो तो वैराग्य कैसे नास्ति अकृत कृतेन अकृत है नित्य फल कृतेन कर्मणा नास्ति कर्म से नित्य फल प्राप्त नहीं होगा जो सुख चाहता है सब चाहते अनित्य सुख चाहते नित्य सुख चाहते कोई भी नित्य सुख मिल सकता है तो नित्य चाहते हैं और सबको लगता है नित्य सुख कहाँ मिलेगा अनित्य ही मिलेगा अनित्य ही सुख वो करो और अंतकरण अशुद्ध है तो तो लगता है कहाँ मुख्य मिलने वाला कहाँ नित्य सुख मिलने वाला किसको मिला अभी बहुत लोग कहते किसने भगवान को देखा है किसने मोक्ष दिया क्या प्रमाण है इसलिए इधर विपरीत मार्ग में चलो तो इसे कहने वाले बुद्धिमान है ना जिसने देखा है ईश्वर को शास्त्र में कहा गया प्रमाण है वो तुम्हारे सामने आकर बताते हमने देखा करेंगे बहुत लोग ऐसे कहते कहीं प्रचार पत्र किसने देखा किसने भगवान को पहले देखा है भगवान भगवान सब लोग कहते उसके पीछे चलते इसमें क्या प्रमाण है किसने देखा मेरे सामने आओ कौन जाकर सामने कहा मैंने देखा करके देखने वाले होते हैं दर्शन करने वाले ज्ञान होते हैं दर्शन भी करते हैं किंतु नहीं मानने वाले नहीं मानो कूपे पत गिरो गाड़े में कोई गाड़े में गिरेगा तो क्या पति तो इसलिए वैराग्य नास्ति अकृत कृतेन नित्य फल चाहते हैं सुख चाहते निरति से सुख चाहते हैं सुख चाहते सब पूछो तो अंदर से कैसे सुख चाहते कम चाहते हो अधिक चाहते हो सबसे अधिक चाहते सुख और यदि हमेशा सुख रहे वो अच्छा है थोड़ी देर रहा फिर नष्ट हो गया तो क्या लाभ है यही है कर्म से नित्य सुख प्राप्त नहीं होता है फल कर्म कार्य अनित्य होता है अब यहाँ कर्म से कोई कार्य होता नष्ट होता है जितने पुण्य कर्म करे स्वर्ग अश्वमेध आदि यज्ञ करे उपासना भी बहुत करे ब्रह्मलोक तक प्राप्त हो जाए तो भी अनित्य है ये वैराग्य को प्राप्त करे कर्म से नित्य फल प्राप्त नहीं होता है तो नित्य फल प्राप्त हो नहीं होता है तो क्या करना इसलिए नित्य फल प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाविकचेत समिति पाणी स्वत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उसी ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान से ही मुख्य विज्ञानार्थम स गुरु में वाविकचेत गुरु के पास अवश्य जाना पड़ता है जब तक अंत अंतकोण शुद्ध नहीं हुआ अभिमान रहता है किसके पास क्यों जाना है क्या बताएंगे यही तो पुस्तक में जो लिखा है बताएंगे पुस्तक पढ़ो समझ आ गया बहुत लोग ऐसे मानते हैं पुस्तक पढ़ लिया बस समझ आ गया और ये भी कहते हैं कोई कोई ये कलयुग में कोई नहीं गुरु कुछ नहीं कृष्ण बंदे जगत गुरु और कोई गुरु जरूरत नहीं प्रचार करते हैं आजकल तेल भी भेजाल घी भी ले मसाला भी भेजाल इसलिए गुरु भी भेजा ले इसे गुरु नहीं करना पुस्तक छपा हुआ लोग कहते गुरु करते गुरु नहीं कहा सो भेजाल तो सन्यासी महात्मा गुरु ये भी भेजाल है और डॉक्टर भेजाल नहीं डॉक्टर दवाई नहीं रोग होगा तो दवाई खाना मना करो रोग होने पर दवाई नहीं खाओ दवाई भी भेजाल है रोग होने पर डॉक्टर के पास नहीं जाओ डॉक्टर भी ठगने वाले ये प्रचार करो अपने लड़की की शादी नहीं कराओ लड़के सब आजकल बहिर्मुख हो गए अपना लड़का है तो उसके लिए शादी नहीं करो कहेंगे लड़की नहीं लाओ क्योंकि आजकल लड़की लोग भी खराब हो गई ये प्रचार करना चाहिए उनको जो लोग प्रचार करते हैं ना गुरु के पास नहीं जाओ उनको बोलो तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओ डॉक्टर लोग भेजा दवाई भी भेजा लो और तुम्हारी लड़की की शादी क्यों करते हो लड़के लोग आजकल खाने पीने बदमाश करने लगे ऐसे लड़की की शादी नहीं करो लड़के की भी शादी नहीं करो उसके लिए तो भेजाल नहीं है उसके लिए लाखों लाखों खर्च करते हैं करोड़ों करोड़ों लाखों के करोड़ों खर्च करके शादी कराते हैं फिर और कुछ लाख देकर कहेंगे विदेश जाओ घूमने के लिए उसके लिए विदेश भेजा भी नहीं है कोई भेजा नहीं घूमते हैं खर्च करते हैं और उसे गुरु करने के लिए कहते सो भेजा ऐसे कहने वाले होते हैं उनके भी गुरु होते हैं जैसे बंदर के राजा होते हैं जो स्वयं कहते गुरु नहीं बना स्वयं गुरु बनते हैं स्वयं कहते हम नहीं गुरु बनते हैं और किसी के पास गुरु नहीं बनना तो अंत में फिर वही उनको लोग गुरु मानते हैं गुरु के पास जाए बिना ज्ञान नहीं होगा ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कोई पूछा भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के पास गए थे गुरु के बिना ज्ञान कैसे होगा डांड दे क्या तुम भगवान श्री कृष्ण हो क्या कोई पूछता भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के पास गए थे तो क्या तुम भगवान श्री कृष्ण हो क्या डांट दिए डांट देने से चुप हो जाएंगे क्या भगवान श्री कृष्ण गुरु के पास गए तुम गुरु के पास जाओ कब जब श्री कृष्ण भगवान हो जाओ तब गुरु के पास जाना अभी नहीं जाना ये सब कलयुग में ऐसे बहुत मत प्रवर्तक मर्मज्ञों कहने कहराने कहनाने कहलाने वाले गीता के मर्मज्ञ नाम के पीछे मर्मज्ञ और अशास्त्रीय मत कहने वाले कलयुग में बहुत आएंगे लोग उनको मानेंगे भी बहुत लोग जो उनको मानेंगे वो तो प्रामाणिक हो जाएगा ना हाँ इसलिए ये जब तक अंतकोण शुद्ध नहीं है तब तो जिज्ञासा नहीं होती है और अहंकार के कारण किसके पास जाना नहीं चाहता है जब वैराग्य होता है तो ज्ञान की आवश्यकता है ज्ञान की आवश्यकता होने पर गुरु एवं अभिगछत श्रुति का आदेश गुरु के पास जाए समित पाणी समिध हाथ में लेकर के नम्रता के साथ अहंकार के साथ जाने से नहीं होगा कोई के चलो सन्यासी महात्मा के पास चलेंगे जाएंगे देखें देखते हैं देखना चाहते कैसे उनको परीक्षा करना चाहते हैं कैसे और गुरु बनाएंगे तो देखे परीक्षा कर विचार करके गुरु बनाओ ठीक है गुरु बनाओ तो परीक्षा कर बनाओ किंतु किसके पास गए देखो तो दवाई खाते हैं उनके पास तो दवाई की रखी बोलिए क्या गुरु बनेंगे अपने स्वास्थ्य तो खराब होने पर दवाई जो खाते हैं हमारा क्या कल्याण करेंगे छोड़ो ऐसे कोई अगर बताए बोले मैं एक महापुरुष गुरु अन्वेषण कर रहा हूँ बड़े समझदार व्यक्ति है कितने महापुरुष के पास गया देखा उनके पास तो दवाई रखी गई मैं कहा हाँ ऐसे हमारे पास ये इतने दवाई रह गया वो दवाई क्यों ना नहीं चलता रोज लेना पड़ता है तो क्या करेंगे ऐसे देखो घूमो जहाँ दवाई नहीं हो ऐसे महापुरुष मिले जो पानी भी नहीं पिए भोजन भी नहीं करे ऐसे महापुरुष परमात्मा ही स्वरूप है ढूंढने से मिल जाएंगे समित पानी ऐसे परीक्षा करने के लिए नहीं नम्रता के साथ जाने पर जो इसे जिज्ञासु है उसको परमात्मा सदगुरु प्राप्त कराते हैं ये सदगुरु मिलते हैं कोई अपने आप आकर नहीं दिखाएगा छाती पीट कर कहेगा मैं ज्ञानी हूँ ऐ जाकर कहेगा मुझे गुरु मानो ऐसा नहीं जो जिज्ञासु है अंतकण शुद्ध है यहाँ श्रुति कहती श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए श्रोत्रिय जो संत शास्त्र ज्ञान हो और ब्रह्म में निष्ठा हो ज्ञानी न तत्वदर्शन गीता में कहा गया शिष्य को जिज्ञासु को उपदेश करती श्रुति श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए किंतु अभी जिज्ञासु को पता नहीं श्रोत्रिय क्या है ब्रह्मनिष्ठ क्या है और समझ लिया तो ब्रह्मनिष्ठ शब्द का अर्थ तो भी पता चल जाएगा देखने से किसकी ब्रह्म में निष्ठा है देखने से पता चल जाएगा ब्रह्म में निष्ठा है तो बाल बड़े-बड़े होंगे तो छोटे-छोटे सफेद हैं काले शरीर एकदम गोरा चकमक हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान होने पर लंबा बढ़ जाएगा ना पेट बढ़ जाएगा कोई कहते पेट बड़ा हो तो कुछ ज्ञानी होंगे <laughs> कुछ नहीं कोई लक्षण नहीं योग वास्ते में आए कोई ज्ञानी का दोस्त सिंह लिए ऐसा नहीं तो भी श्रुति कहती श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए श्रुति वाक्य सार्थक कैसे होगी तभी अवश्य ही परमात्मा की कृपा से साधक की श्रद्धा इसे किस महापुरुष के प्रति हो जाती है महापुरुष दर्शन करते समय कहीं किस महापुरुष के प्रति उसको समय परमात्मा की कृपा से ये निश्चय हो जाता है कि जरूर ज्ञान ये गुरु है यही मेरे कल्याण कर सकते उनके पास समर्पित तो हो जाता है अर्थात तो वहाँ परमात्मा की कृपा ही कारण है ऐसे गुरु प्राप्त कराने में जिज्ञासु हो तो अवश्य उसको ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं तो गुरु के पास अवश्य जाना पड़ता है एवं ही विरक्त से प्रत्येगात्म विषय विज्ञानम टीका में अन्य व्यतिरिक सिद्धत्वम चाह अन्य व्यतिरिक सिद्ध क्या है इसे विरक्त होने पर ही ज्ञान होगा श्रवण मनन करेगा वैराग्य के बिना नहीं कर सकता है वैराग्य कारण है अन्य व्यतिरिक से सिद्ध होता है जैसे मिट्टी होने पर घट बनेगा बाकी सब कारण होने पर भी मिट्टी नहीं तो घट नहीं बनेगा मृत सत्व घट सत्व मृत भाव घट भाव ये अन्य व्यतिरिक ही मृत सत्व घट सत्वम अन्वय मिट्टी नहीं तो घट नहीं बनेगा ये व्यतिरिक व्यतिरिक अभाव स्वभाव मिट्टी रहेगा तो घट बनेगा का अर्थ क्या है अन्य कारण नहीं खाली मिट्टी लेकर रख दिया घट बन जाएगा मृद इतर सक कारण सत्य भी मिट्टी से भिन्न सब कारण होने पर भी मिट्टी लाएंगे तो घट मिट्टी हो तो घट बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा इस अन्य के से निश्चय होता है मिट्टी घट का कारण इसी प्रकार यहाँ भी वैराग्य होने पर ही ज्ञान होगा उसके बिना नहीं होगा इसे कहते एवं ही विरक्तस्य ऐसे विरक्त होने पर ही प्रत्येगात्म विषयम विज्ञानम श्रोतु मन्तु विज्ञातुम च सामर्थ्यम उपपद्यते नान्यता तो प्रत्यगात्म विषय ज्ञान होगा श्रवण मनन श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम च श्रवण मनन ध्यान करने के लिए सामर्थ्य होता है ऐसे विरक्त होने पर ना अन्यथा अन्यथा नहीं अन्य प्रकाश नहीं अन्यथा अविरक्तस्य विरक्त नहीं तो क्या होगा बहिर्विषय आक्षिप्ता चेतस जो वैराग्य नहीं तो बहिर्विशेषो आक्षिप्तम चेतो यस्य बाहर विषय में उसका चित्त भाग जाएगा वैराग्य नहीं तो रास्ता में चलते समय कहीं देखा अच्छा उधर चला गया मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था लोग कहीं जादू मैजिक देख रहे हैं उधर खड़े होकर के सब गया नहीं तो कहीं चित्र सिनेमा आदि देखने के लिए चला गया अब और रास्ता से हट जाते हैं अविरक्त से बहिर्विषय आक्षिप्त चेतस आत्म जिज्ञासा अनुपपन्ना आत्म विषय जिज्ञासा ही नहीं होगी बाह्य विषय में जब तक आसक्ति है आत्म विषय जिज्ञासा ही नहीं होगी और कथचित जाता भी कभी किसी प्रकार थोड़ी जिज्ञासा होगी सब लोग श्रवण करते ब्रह्म ज्ञान के लिए थोड़ा हम भी देख ले देख लें थोड़े दिन तो थोड़े होने पर भी क्या होगा न फलावसाना फलम अवसान अवसान यस्य सा फलावसान जिज्ञासा अंत में फल हो तब जिज्ञासा भोक्षा तो भोजन करने पर निवृत्ति होगी जिज्ञासा तो ज्ञान होने पर ही निवृत्ति होगी अंत में ज्ञान होना चाहिए और थोड़ी जिज्ञासा होगी तो कि ज्ञान क्या श्रवण में पूरा नहीं कर सकता है ज्ञान प्राप्त नहीं होगा शूद्र याग आदिवत कोई याग करने के लिए कहते याग करने के लिए कोई कहते क्या हो गया हम भी क्यों नहीं कर सकते ब्राह्मणों को क्यों बुलाएंगे इतने सब क्या है हम भी कर सकते संस्कृत हम पढ़ते हैं श्लोक बोलते कुछ ना कुछ श्लोक बोलेंगे फिर अंत में घी डालो स्वाहा कहो लकड़ी जलाओ कुछ ना कुछ श्लोक बोलो जिसको जो श्लोक आता है एक श्लोक बोलो फिर बाद सब लोग स्वाहा फिर कुछ ना कुछ श्लोक कुछ पढ़े श्लोक याद करते हैं तो कोई श्लोक बोला कोई सुना कुछ बोला फिर बनते स्वाहा तो याग याग करने के लिए देवता देशन द्रव्य त्याग विधान मंत्र विहित है विधि से करने से फल मिलता है अब विधि के बिना खाली अग्नि जला कर घी डाल दिया और ऊपर साठ के ऊपर एक लंबा जनेऊ भी डाल दिया क्योंकि जनेऊ डालना होता है तो ऊपर डाल दिया उसी समय कर्म करने के लिए बाद में लेकर पहले दो तो करके स्वाहा करके घी डाल दिया इतने मात्र से कुछ फल नहीं होता है शूद्र याग आदिवत शूद्र यज्ञ अनवकल्पित यज्ञ करने के लिए निषिद्ध है वो करेगा तो फल नहीं मिलेगा इसी प्रकार जिज्ञासा नहीं हुई ठीक ठीक ही वैराग्य नहीं थोड़ी जिज्ञासा हो गई तो श्रवण मनन ध्यास भी नहीं कर सकता है ज्ञान क्या होगा यद्यपि एवं उपनिषदः कर्मकांड संबंधोस्ति तथापि उपनिषद जन्य ज्ञान से निष्प्रयोजन नो उपनिषदो व्याख्यारंभ संभवति आशंका अभी उपनिषद का कर्मकांड के साथ संबंध है कर्मकांड से कर्म उपासना से तो स्वर्ग आदि फल मिलेगा किंतु निष्काम होने पर जिज्ञासा होती जिज्ञासा से ज्ञान होगा वैराग्य होगा तो उपनिषद के साथ कर्मकांड का हेतु हेतुमद भाव संबंध है तो भी हेतु हेतुमद भाव संबंध होने पर भी उपनिषद की व्याख्या करने कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपनिषद से ज्ञान होगा वो ज्ञान का क्या प्रयोजन है ज्ञान होगा मैं ब्रह्म हूं आत्मज्ञानम वो तो हमको पहले से ही हम तो ब्रह्म है और उपनिषद श्रवण करके क्या अधिक ज्ञान होगा कोई ब्रह्म दिखेगा क्या उपनिषद श्रवण बहुत दिन करेंगे तो ब्रह्म को कोई देख लेगा और ब्रह्म में ब्रह्म ये तो हमको समझ आ गया और क्या करना और उपनिषद व्याख्या करनी भाष्य रचना वो पढ़ना क्या जरूरत है क्योंकि निष्प्रयोजन है उपनिषद जन ज्ञान से निष्प्रयोजनत्वात् तो न उपनिषद व्याख्या आरंभ संभवती ऐसा शंकाउन से उत्तर देते एतस्माच्च प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानाद संसार बीजम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषत्व निवर्तते ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती जो अज्ञान सारा संसार का कारण है वस्तुतः जो हम ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञान कहते वो ज्ञान नहीं है शब्द से कहने से नहीं होता है शब्द से कहने से ज्ञान नहीं हम्म, सद मधु मधु मिठाई हमको मालूम है मधु मिठाई नहीं खाया मालूम है मधु मिठाई सुन सुन कर मधु मिठाई कह सकता ना नहीं हाँ जैसे सुना ऐसे कहेगा मधु मिठाई किंतु मधु क्या चीज है क्या है पदार्थ है पत्थर से बड़ा है पहाड़ जैसे तोड़ना पड़ता है या कुठार से फाड़ना पड़ेगा ये पता नहीं मधु क्या है सुन सुन का मधु मीठा है मधु मीठा है इसी प्रकार ब्रह्म हम ब्रह्म ये तो मालूम है किंतु ब्रह्म किसको कहना और हम क्या है अहम क्या मैं क्या पहले पता नहीं ब्रह्म क्या पता नहीं मैं ब्रह्म क्या अब ब्रह्म कहेंगे व्यापक और मैं देह छोटा इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो ब्रह्म ज्ञान से क्या हो जाता है तस्माच ब्रह्म प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है पहले त्वम शब्द का लक्ष्यार्थ मैं कौन हूँ पहले आत्मा इसका निश्चय तुझसे तो अभिन्न ब्रह्म शुद्ध चिन्ह मात्र उसका विज्ञान ज्ञान और विज्ञान शब्द जो प्रयोग करते हैं ज्ञान तो सामान्य हो जाता है संशय विपर्य वाले ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं विज्ञान है विशेष ज्ञान अनुभव रूप ज्ञान ज्ञान अनुभव में कोई भेद है क्या अनुभव ज्ञान है या नहीं और जितने ज्ञान सब अनुभव है या नहीं ज्ञान अनुभव नहीं कौन सा ज्ञान अनुभव नहीं बताऊं एक ज्ञान बता जो अनुभव नहीं है घट ज्ञान अनुभव नहीं सामने दिखेगा कोई ज्ञान है अनुभव नहीं हो ये ज्ञान बता जो अनुभव नहीं है मालूम है लाइन में कोई एक ज्ञान बता जो अनुभव नहीं है स्मरण ज्ञान है स्मरण भी ज्ञान है किंतु अनुभव नहीं है स्मरण होता है दो प्रकार है स्मृति अनुभव से ज्ञान दो प्रकार स्मृति अनुभव अनुभव ज्ञान भिन्न स्मृति है संस्कार जन संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति तद भिन्न ज्ञान अनुभव स्मृति भिन्न ज्ञान अनुभव तो अनुभव से भिन्न ज्ञान भी है और अनुभव में भी यथार्थ यथार्थ है है और हाँ, ज्ञान भी परोक्ष अपरोक्ष भी है ये सब विभिन्न भेद है साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है संशय विपर रहित ज्ञान उससे ही अज्ञानी की निवृत्ति होती है विज्ञान अनुभव रूप ज्ञान से विज्ञानात संसार बीजम अज्ञानम संसार का बीज का कारण है अज्ञान काम कर्म प्रवृत्ति कारणम ये अज्ञान जिसे काम कर्म होता है कर्म कर्म प्रवृत्ति का कारण है अज्ञान अशेषत्व निवर्तते पूरा पूरा नष्ट हो जाता है अज्ञान किससे ब्रह्म विज्ञानात प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात ज्ञान निष्प्रयोजन नहीं है जो मैं ब्रह्म ज्ञान अहम प्रत्यक्ष होता है तार्किक लोग कहते वो ज्ञान से उसी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ज्ञान साक्षात्कार संशय विपर रहित ज्ञान उससे अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान जिस विषय का ज्ञान तद विषय को होना चाहिए रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है और यदि सुक्ति का ज्ञान हो गया तो सर्प दिखेगा हां सुक्ति का ज्ञान हो जाएगा तो क्या नहीं दिखेगा रजत नहीं रजत भ्रम सुक्ति में रजत भ्रम होता है सुक्ति के अज्ञान से सुत्ति का ज्ञान नहीं रज्जु का ज्ञान हो गया तो रजत तो दिखेगा रज्जु का ज्ञान होने पर रज्जु में सर्प नहीं दिखेगा रज्जु ज्ञान के बिना बाकी बहुत पदार्थ का ज्ञान हो गया तो रज्जु में सर्प भ्रम होगा बहुत पढ़े लिखे बहुत विषय ज्ञान है किंतु रज्जु नहीं दिखा है सामने सर्प दिखता है भ्रम नष्ट हो जाएगा क्या रज्जु ज्ञान ही चाहिए इसी प्रकार जिस विषय का ज्ञान उस विषय ज्ञान जीव ब्रह्म की एकता है अद्वितीय ब्रह्म जीव का वास्तव स्वरूप उसी के अज्ञान के कारण आवृत है उसके कारण संसार है उसी के ज्ञान से निवृत्त होगा अहम अस्मि ब्रह्म संशय विपर रहित ज्ञान से अज्ञान काम कर्म बीज निवृत्त होता है ये भी श्रुति में कहा गया है तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यते इति मंत्र वर्णाद ईशावासी उपनिषद में आया एकत्वम अनुपश्यत को मोह कह शोक एक तो, तो साक्षात्कार कर लिया गुरु उपदेश के पश्चात तो शोक मोह का अत्यंत अभाव तरति शोकम आत्मविति चांदोग्य में कहा आत्मविति शोकम तरति ब्रह्म विद्या आपनति परम भी विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाय क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुतिभ्यश्च श्रुति तो बहुत ही हृदय ग्रंथि विद्यते ग्रंथि का भेदन हो जाता है हृदय बुद्धि में ग्रंथि गांठ ग्रंथि क्या है आत्मा के साथ तादात्म अध्यास बुद्धि जब दिखते चिदाभास विशिष्ट ही दिखती है अलग आत्मा कहीं दिखता नहीं है तो बुद्धि के साथ आत्मा का एकत्व भ्रम होता है चिदाभास विशिष्ट बुद्धि है तो बुद्धि और आत्मा दोनों का पृथक भेद निश्चय नहीं होता है तो एकत्व जो तादात्म अध्यास ग्रंथि जैसे है किंतु ज्ञान होने पर हृदय ग्रंथि विद्यते तब सर्व छिद्यन्ते संशय का छेदन हो जाता है तस्मिन दृष्टे परापरे पर रूप अवर रूप ब्रह्म उनका साक्षात्कार करने पर छियन्ते चस्य कर्मणि संपूर्ण कर्म का विषय हो जाता है तो ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति कर्म क्षय मुक्ति जीवन मुक्ति ये सब कहा गया टीका में अभी ज्ञान से तो मोक्ष है और ज्ञान प्राप्ति के लिए उपनिषद श्रवण आवश्यक है इसलिए उपनिषद की व्याख्या करनी चाहिए अभी व्याख्या प्रारंभ नहीं हुआ उपनिषद व्याख्या करने की आवश्यकता और उपनिषद के साथ पूर्व ग्रंथ कर्मकांड का संबंध कहा गया उपनिषद का प्रयोजन कहते क्योंकि एक अनुबंध चतुष्टय होता है संबंध अधिकार से विशेष से प्रयोजनम बिना अनुबंधम ग्रंथादु मंगलम नैव सच्यते विषयस्य अधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम विषय संबंध अधिकारी प्रयोजनम ग्रंथ का विषय क्या है और अधिकारी कौन है संबंध क्या है और प्रयोजन फल क्या है ये चारों का ज्ञान होने पर ग्रंथ श्रवण करने के लिए प्रवृत्ति होती है इसलिए पहले विषय ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय इसका प्रयोजन और अधिकारी कौन है वेदांत श्रवण करने के लिए अधिकारी वैराग्य विरक्त और विषय होता है जीव ब्रह्म की एकता प्रयोजन कहा गया मोक्ष आत्यंतिक निवृत्ति और संबंध पूर्व ग्रंथ के साथ इसका हेतु हेतु मतभाव संबंध और उपनिषद ग्रंथ के साथ उसका ज्ञान होता है ब्रह्म के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध और ज्ञान का फल के साथ साध्य साधन रूप इस प्रकार विभिन्न प्रकार संबंध तो यहाँ केवल संबंध कहा गया पूर्व ग्रंथ के साथ उपनिषद ग्रंथ का तो ज्ञान से मुख्य कहने पर कुछ लोग कहते हैं कर्म और कर्म सहित ज्ञान से हो जाएगा तो उसके लिए आगे शंका है ओम आप्यायन्तु ममाङ्गान्